भाव देखा मानदाता ने देखा एक तो हमारा घर ही खाली कर और उन्होंने महर्षि ने जाकर के सबको अलग अलग पचास महल तैयार कर दिए अपनी योग माया से अपने भी पचास रूप धारण कर लिए एक के पचास होंगे और सबके घर में घरों में पृथक तो पृथक रहते थे एक दिन मानदाता ने सोचा कि पचास कन्याएं ले गए महात्मा ये कैसे व्यवस्था करते होंगे कहाँ रखते होंगे चल करके देखे तो सही तो जा करके देखा तो उनका वो लोग प्रभाव अपने भी महल तुच्छ तो मालूम होने लगे उनके उन महिला को देखकर और जिस घर में जाए तो वहां महात्मा अपनी कन्या भी का दर्शन किया और वो सौरी ऋषि भी वहां विराजमान किसी जी लड़की से पूछती है बेटी कोई दुख तो नहीं है कि पिताजी दुख का तो कोई रास्ता तो नहीं है पर ये है कि महात्मा मेरे यहाँ रहते हैं हमारी बहन के यहाँ तो नहीं जाते और घर में नहीं जाते सब यही करें और वो तो पचास रूप धारण करके सभी के पास रहते एक दिन उनको स्मरण आया अरे हम तो जा रहे थे उत्तराखंड को चल रही है पूरब की मार्ग हमारा कुछ था लक्ष्य कहीं था चल पड़े थे घर को अहो इमं पश्यत मे विनाशम तपस्विना सच्चरित्रत से अरे हमारा तो लक्ष्य ही और था ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके अब परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए निकले थे और हम ये कहां फंस गए पहले में अकेला था और फिर हम मैंने ये पचास रूप धारण किए और उनके पुत्र पौत्र आदि सब गिन करके उन्होंने देखा तथा पुत्री पंचास सर्द आसन बोलो पांच हजार है अब आजकल उन्होंने सब गिन गिना के बोले बोले तो पहले केवल मैं अकेला था और गिन करके उन्होंने देखा था हम सब पांच हजार हो गए और विरक्त होकर के निकल गए ब्राह्मण जो जो परमात्मा ने अपने मन को लगा दिया और त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र एक हरिश्चंद्र की कथा को तो आपने सुनी रखी है जो इतने सत्य वक्ता थे और दृढ़ प्रतिज्ञ थे ये भी हरिश्चंद्र है जो तो इनके इनके जब कोई पोषण नहीं था तो उसने हरिश्चंद्र कहा बहन के पास जाकर कहा उनको विनौती बनाई महाराज मेरे पुत्र होगा तो मैं फिर उसी से यज्ञ करूंगा आपका यजन करूंगा आपकी भेंट दे दूंगा वर्ण का अच्छा तो वरुण की कृपा से हरिश्चंद्र के पुत्र हुआ तो जैसे जी वरुण आ गए ये पुत्र तो हो गया तो पुत्र का मुख देख लिया आप उसको दे दें तो महाराज इसके दांत से तो दस दिन तो हम लोग तो दस दिन जब पूरे हुए खराब लाओ तो बोले इसके दांत से तो जब ये शुद्ध होगा जब उस बच्चे के दांत आ गए तो बड़ो कराए के लाओ यजस्व करो लग गया राजा ने कहा महाराज तो दूध के दांत है झूठे सच्चे सच्चे दांत आने के पड़ेगा का चार पदों को घर कहां पाएंगे महाराज ये जो है क्षत्रिय बालक है जब ये धारण करने लगे धनुष बाण धारण करने लगे तब जोखिम नहीं है इसलिए भी बात होती तब जब वो कुछ बड़ा हो गया रोहित उसने समझा पिता तो हमको बड़ों की भेंट देंगे तो वहां से अपनी प्राण रक्षा करने के लिए धन धनुष्मान हाथ में लेकर के धन में चला गया तब तो बड़ों ने कुछ होकर के उसको जलोदर कर दी जलोदर का रोग हो गया हरिश्चंद्र गोवर्धन का वो रो रहा तो बड़ा दुखी का सुने रोज ने देखा जो हमारे से कहा जरूर बोलो तो फिर जंगल में से लोग के घर को आने लगे तो इंद्र आकर के रोकी अरे क्यों मरने को जाता क्या ये भगवान का भजन कर कई बार आने का उसने प्रयत्न किया आप बार बार इंद्र उसको रोक देता एक बार वो माना नहीं और लौट करके आया एवं पुनः ष्ठी संवत्सरे पितरम वरुणग्रस्तम विश्वा पुनीम लक्षण अपनी नगरी को लौट के आ रहा था तो अभी अर्थ का पुत्र जो उस यज्ञ में पुरुष मेध जो यज्ञ हुआ उसमें कौन कौन थे ये लोग जमदग्नि अध्वर्यु थे वशिष्ठ उसमें ब्रह्मा जी थे प्रयास नाम के मुनि उद्वाता थे तत्र यज्ञ तुष्टा इंद्र तस्मय सौवर्णम रसम सुवर्ण का रख दिया इंद्र ने प्रीत और विश्वामित्र ज्ञान बदल जी ने ज्ञान का उपदेश किया अंत में हरिश्चंद्र जो है मनोभूमि हैं काम जले पृथ्वी को जल में और जल को तेज में तेज को वायु में वायु को आकाश में आकार अंत सबको अहंकार में अहंकार को मार सकते हैं राम में भूल करके और तेना अज्ञानम रहम आत्मज्ञान के द्वारा विद्या को नष्ट करते हुए मुक्त बंधन होकर के स्वरूप सत्व अपने आप स्वरूप में स्थित हुए बोलिए श्री कृष्ण आगे चल करके भगवान कुदरत का दाहुक दाहुक जो थे उनका राज छीन लिया शत्रु ने स्त्री को लेकर के धर्म में चले गए काले वन था वहां जाकर की मृत्यु हो गई उनकी स्त्री अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी तो राम ने शुरू किया गर्भवती है अगली में जो सरस्वती नहीं हो सकती अगली बात ध्यान करते हैं कि ये तो उसके पेट में बालक है और उसकी जो सरस्वनी थी तो मैं उन्होंने उसको भी दे दिया तेरे साथ साथ उत्तम भगवान जी के साथ उसके पुत्रों में पावर बढ़ा दी जब ये शरद महाराज यज्ञ कर रहे थे इंद्र ने आकर के उनका ईशान दिशा में जहां कपिल का आप में न पहुंचे इंद्र वहां घोड़ा घोड़ा बंधा हुआ वहां देखा अरे ईश धन्यताम धन्यताम इसको मार डाला मार डाला यही घोड़ा चला कर कपिल देव देखा भी कौन लोग रहे जो हमारे ऊपर धारा बोल रहे हैं तो उन्होंने जो नेत्र खोले तो उनकी नेत्रों की दृष्टि से ही सब जल करके भस्म हुए कोपाग्नि था सगर की दूसरी स्त्री थी उसका नाम केशनी था उसका पुत्र हुआ असमंजस उसका पुत्र हुआ फिर अंशमान असमंजस जो था पहले जन्म में योगी था इस जन्म में उसने अपने पहले जन्म का स्मरण था इसलिए कोई भी बच्चा ने जन्मे कर कुआ में डाल दे कि वहीं डाल दे किसी तरह पिता हमको अपने घर से बता दे जब उसके पिता ने उसको घर से निकाल दिया तो बहुत बड़ा योगी था जितने बच्चे मृतक थे उनको सबको अपने अपने घर भेज दिए तब तो अयोध्यावासी सभी रास्ते में पड़ गए तब राजा भी राजा को बड़ा संताप हुआ हमने ऐसा योगी राज अपना पुत्र निकाल दिया अंशमान जो तो है कपिल अब गंगा के ढूंढने के लिए अंशुमान को भेजा वो जाकर के कपिल भगवान जहां तप कर रहे थे वहां पहुंचे और जाकर के उनकी स्तुति करने लगे हे भगवान अब तक दर्शनान में विभु हो आप कपिल भगवान प्रसन्न होकर के बोले हे वत्सो कल्प काम स्वयं अश्वनीयताम लोगों हमारे बाबा का ये बोला है जाओ सुनिए अब तुम्हारे जो उनको दर्शन दिया भगीरथ जी को और गंगा जी ने कहा कि अच्छा भाई तो को ये तो देखो तुम हमको पृथ्वी का करना दे सकते हो मेरे देश को कौन धारण करेगा वो भारत का आवेदन अपन करो अन्य का कलम देवता देवता कलम मैं यहाँ स्वर्ग में तो धारा की जब गिरूंगी तो पृथ्वी को खास करके माता नहीं देखता मेरे दोस्त को कौन लोग हम हम्म। जब बोले धारा स्थित तो गंगा माता बोले कि नहीं तो अभी हम पृथ्वी से जाना नहीं चाहते क्यों किंचाहंत भवभियास्ते नरामयाम निरंतरम मनुष्य में स्नान करेंगे अपने पापों को छोड़ जाया करेंगे और मैदान तटसम पुत्र मैं उन पापों को कहां डालूंगी भगीगढ़ बोलने के अलावा भारतवर्ष में सब पापी पापी तो ही रहते हैं साधरो न्यासन शांता ब्रह्मेशा लोक पावना और संत महात्मा भी रहते हैं ब्रह्मज्ञानी रहते हैं भगवान के भक्त रहते हैं वो जब आपने स्नान किया करेंगे तो आपके सब बात में हो जाएंगे गंगा जी प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर के लगी उसके और के का उनके पुत्रों का महाराजा अक्षाण हुए देवताओं की प्रार्थना भी वहां गए और उनकी सहायता दी और जब उनको ये पता चला हमारी इस में एक ही आई रह रही है तो सबको भगवान के चरणों में अर्पण करके और उन्होंने अवैध प्राप्त कर और अक्षाणों के तरफ में दीर्घ भाव उनको गिरीश भी कहते हैं और फिर उनके हुए अर्थ

संरक्षण भाई जो है हमारे पीछे से हमारी पत्नी का अपहरण कर चुका है Kalau yang itu jalan seperti ini, औरत की तो मिलने थोड़ी दूर होती गोमूत्र पक्षान भोजनम भगत जी भोजन का करते हैं तो गोमूत्र में पता हुआ जो गौ का है ना उसको खाते गौ को गौ का हुआ और गोमूत्र में बनाओ उसको दो पिक्चर बनाओ खा करके देखो बहुत कड़वा होता है गो गोमूत्र सत्वलांग भोजन जटिलम इसको बता रखी बलकरांबरम बलकल भूमि कारण गोविंद पूर्वक भगवान ने सुना कि अच्छा उस समय से भरत की गड़बड़ निशानी है तो फिर पूछना भूल भेज जाओ कह दो लौट करके आ गए भरत आगतम रामो ने पूछा भरत जी ने सुना तब तक भगवान लौट करके आ गए तो उनकी बात का खुद रख करके भगवान का दर्शन करने के लिए आए नंदी जाना नंदजाना गीत बाधित सकोगी ब्रह्म ब्राह्मणों भूत करते आ रहे थे गाना गा रहे थे लोग लग रहे थे भगवान राम ने ये कहा था कि साध का उनको कर्मों में स्थापित करके बोलना पावने में राम जी का दर्शन हुआ है लोगों ने कृष्णों की रक्षा भी भगवान से तो भगवान के काम का जो नहीं करने भगवत पुत्री निर्देशन जीवन निर्देशन सब सत्य तो